चुनाचे उन्होंने ऊँटने की टांगे काट डाली और अपने रब के हुक्म से सरकश हुए और उन्होंने कहा ऐसा ले अगर तुम बाकी रसूलों में से हो तो हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो